गुफ्तगु को आगे बढ़ाएंगे शिरक की दो किस्में शिरक फिजात और शिरक फिसिफात शिरक फिजात की मुख्तसर तारीफ यह है कि किसी को खुदा से समझना और खुदा से किसी को समझना ये शिरक फिजात है यानी अल्लाह का कोई बाप है या अल्लाह का कोई बेटा है इसको शिरक फिजात कहते हैं शिरक फि सिफात का मफहम यह है कि जिन सिफात से अल्लाह तबारक व ताला ने अपने आप को मौसूफ किया है वो सिफात उसी मफहूम में जो खुदा के लिए मुस्तमल हैं किसी को साजी ठहराना जिस मफहूम में वो खुदा के लिए मुस्तमल हैं इस कैद का फायदा यह है कि बसा औकात हम यही सिफतें जो अल्लाह की हैं इंसानों पर भी बोलते मसलन अल्लाह की एक सिफत है रहीम एक सिफत है समी एक सिफत है बसीर ये सिफतें हम दीगर इंसानों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब हम ये सिफतें अल्लाह के लिए बोलते हैं अल्लाह के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका मफहम कुछ और होता है और वही सिफतें जब हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको खुदाई मफहम से अलग करके बोलते हैं अगर हम उसी मफहूम में जिस मफहूम में ये सिफात खुदा के लिए मुस्तमल हैं किसी इंसान के ताल्लुक से मान लें तो ये शिरक सिफात है शिरक की शनाहतें और कबाहतें जानने के लिए कुछ आयात आप हजरात के गोश गुजार करता हूं पहली आयत तो वही है जो मैंने खुतब मसनूना के बाद तिलावत की इन अल्लाह यकफ़िर शरक कभी फिर मादून अदाली के लिए यशा ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما कि बेशक अल्लाह हर गुनाह को चाहे तो बख्श देगा मगर शिर्क एक ऐसा पाप है एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला कभी नहीं बख्शेगा एक जगह अल्लाह ने फरमाया वो वसैन अल इंसान अभी वाली दही हुसना वइन जाहदा काला अंतुश्री कभी मालई सला कभी हमने इंसान को वसीयत की है कि वो वालदेन के साथ उसने सलूक करें लेकिन अगर मां बाप अपने बेटे को अपनी बेटी को शिरक के ऊपर कारबंद रहने के लिए मजबूर करें या शिरक करने के लिए मजबूर करें तो मां बाप की एतात इस सिलसिले में नहीं की जाएगी हर चीज में मां की एतात बाप की एतात है लेकिन अगर वो शिरक करने पर मजबूर करें तो उनके इस हुक्म को तस्लीम नहीं किया जाएगा एक जगह और अल्लाह ने इर्शाद फरमाया वाला तनकहुल मुशरका तिहत्तायुमिन अगर औरत मुशरका है तो उसके साथ उस वक्त तक शादी नहीं कर सकते जब तक कि वो ईमान न ले आए इसी तरीके से कोई औरत उस वक्त तक किसी मुशरक से शादी नहीं कर सकती जब तक कि वो ईमान के दायरे में ना आ जाए एक जगह और अल्लाह ने इर्शाद फरमाया माकान अली नबी वल्लदीन आमनु अयस्तक फिर कानू लि कुर्बा नबी के लिए और ईमान वालों के लिए कतान इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वो उन लोगों के लिए अल्लाह से दुआए मगफरत करें जो शिरक पर मर गए अगरचे वो उनके करीबी ही क्यों ना हो नबी को भी इस बात की इजाजत नहीं और मोमिनों को भी इस बात की इजाजत नहीं है चाहे उसका बाप हो चाहे उसकी मां हो या और कोई करीबी हो अगर शिरक के ऊपर उसकी मौत हुई है तो उसके लिए अल्लाह से दुआ मगफरत भी करना जायज नहीं है एक जगह अल्लाह ने और इशाद फरमाया फला तदुमा अल्लाखर फतकून मिनल मुद्दबीन देखो अल्लाह के साथ किसी और को मबूद मत बनाना वरना तुम अदाब के मुस्तक हो जाओगे फला तदुमा अल्लाखर फतकून मिनल मुद्दबीन ये कुछ आयात थीं जो शिरक की शनातों और कबाहतों पर एक वाज दलील है शिरक का मौकफ सही है या गलत है इसको हम कैसे समझें तो यह बात जहन नशीन कर लीजिए कि किसी भी नुक़ नज़र के सही या गलत होने का फैसला दो तरीक़ों से किया जाता है एक तो उस नुक़ नज़र को अक्ल की मीज़ान पर पेश किया जाए अक्ल की मीज़ान पर रखकर उसे परखा जाए अक्ल अगर उसको काबिल कबूल समझती है तो वह नुकतः नज़र तस्लीम कर लिया जाए इसको फलसफियाना तरीके बहस कहते हैं फलसफियाना तरीका कहते हैं दूसरी सूरत यह है कि उस नुक़ नज़र के अमली नतज को उस नुक़ नज़र के असरात को इंसानी जिंदगी के ऊपर देखा जाए अगर उस नुक़ नज़र के अमली नतज अच्छे हैं और उसके असरात इंसानी जिंदगी पर अच्छे हैं तो वो नुक़ नज़र सही होगा और अगर इंसानी जिंदगी पर उसके असरात या अमली नतज सही नहीं है तो उस नुक़ नज़र को तस्लीम न किया जाए इसको साइंटिफिक अंदाज कहा जाता है साइंटिफिक तरीके बहस कहा जाता है इससे पहले कि हम असल मौजू के ऊपर आए एक सवाल का जवाब पहले दे लेते हैं सवाल यह है कि शिरक के पीछे जब कोई मुस्तकम दलील नहीं है शिरक की कोई बुनियाद नहीं है तो ये जिंदा कैसे है इसको तो मिट जाना चाहिए बेदलील चीजें मिट जाया करती हैं ये जिंदा कैसे है उसके दो जवाब हैं पहला जवाब तो यह है कि मजहब के मामले में लोगों ने अक्ल को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और हमेशा से लोगों का यह तरीक रहा है कि मजहब के मामले में वो अक्ल का दखल तस्लीम नहीं करते थे तो मजहब के हदूद हुक्मरानी से अक्ल को खारिज करार दे दिया गया और आबा व से जो चीजें चली आ रही हैं उन्हें आंखें बंद करके आंखें मीच करके मान लेने का जो तरीका पाया जाता है इस वजह से शिरक जिंदा है पहली वजह तो यह है कि मजहबी मामलात में अक्ल को इस्तेमाल नहीं किया जाता अगर अक्ल को इस्तेमाल किया जाता तो मालूम हो जाता कि शिरक बेसलेस है शिरक बेबुनियाद है लेकिन मजहब के हदूद हुक्मरानी से अक्ल को तो निकाल बाहर किया गया है अब आंखें मीच कर आबा वाजदात की तरफ से आने वाली हर चीज को अगर तस्लीम कर लेने का शीवा इख्तियार कर लिया गया हो तो फिर शिरक जिंदा नहीं रहेगा दूसरी वजह यह है कि शिरक इस वजह से फल फूल रहा है कि ये किसी कौमी तहजीब की बका की जमानत है कि अगर शिरक को तस्लीम न किया जाए तो कौमी तहजीब जिंदा नहीं रहेगी कौमी तहजीब की बका के लिए शिरक को तस्लीम करना नागुजीर समझा जा रहा है इन दो वजूहत की वजह से शिरक जिंदा है मजहब को अक्ल के दायरे में रखकर नहीं देखा जाता और दूसरे कुछ कौमें ऐसी हैं कुछ तहजीबें ऐसी हैं जो अपनी बका के लिए शिरक को तस्लीम कर लेना नागुजीर समझती हैं वरना अल्लाह तबारक व ताला ने मुशरकिन की कम आएगी उनकी बेअकली पर यूं आयत नाजिल फरमाई है मालहुम बिही मिन इल्म जन इनहुम खुरसून इनके पास कोई इल्म नहीं है शिरक के मौकफ पर कोई इल्मी दलील नहीं है उसके पीछे कोई मुस्तहकम बुनियाद नहीं है ये तो बस तीर तुक्के चला रहे हैं इनहुम इल्ला यखरसून खाली तीर तुक्के चला रहे हैं यह आयत करीमा बता रही है कि शिरक की कोई मुस्तहकम बुनियाद नहीं है बेदलील बात है और एक जगह तो दलील का मुतालबा किया गया कुल हल इल्मिन फतुखरिजू लना अगर तुम्हारे पास कोई इलमी दलील हो शिरक के मौके की सदाकत पर तो वह दलील पेश करो इन तत्तबन तुम तो गुमान की पैरवी कर रहे हो दलील का मुतालबा किया गया दलील नहीं दी गई शिरक के पास रही सही हमेशा एक दलील रही है जिसे दलील नहीं कहा जा सकता क्या बलकालू इन्ना वजदना आबा अना अला उम्मत्यू व इन्ना अला आसारिम मुख्तदून वो कहते हैं कि हमने अपने आबा व आजदाद को इसी रविश पर पाया है और हम इसी रविश की इब्तदा कर रहे हैं शिरक के पास इस दलील के अलावा बशर्ते किसी दलील तस्लीम किया जाए और कोई दलील नहीं है इतनी बात समझ लेने के बाद अब आए देखते हैं कि इंसानी जिंदगी पर शिरक के क्या असरात मुरतब होते हैं पहली चीज तो यह है कि शिरक को तस्लीम करना यह बहुत बड़ी जहालत है शिरक जहालत के पेट से पैदा हुआ है मुशरकिन आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि लाओ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कुछ दिन आप हमारे मबूदों की परस्तिश कीजिए और हम आपके मबूद की परस्तिश करते हैं आयत करीमा नाजिल हुई कि आप कह दीजिए कुल अफ़रनी आबुदुलजाहलून आप फरमा दीजिए क्या अल्लाह के अलावा की इबादत करने का तुम मुझे मशवरा देते हो या हुक्म देते हो जाहिलो गोया शिरक को तस्लीम करना यह जाहिलों का काम है कोई साहेब इल्म शिरक को तस्लीम नहीं कर सकता शिरक जहालत के पेट से पैदा हुआ है और अपने ऊपर कोई आदमी जहालत का इल्जाम गवारा करने के लिए तैयार नहीं है और मुशरक जाहिल होता है दूसरी चीज ये कि मुशरक शिरक करने वाला जब तोहीद को छोड़ता है तो जिनके ऊपर वो डिपेंड होता है जिन्हें वो अपना सहारा समझता है जिन्हें वो अपना आसरा मानता है अल्लाह के अलावा जितने भी आसरे होते हैं वो इंतहाई बोगस इंतहाई कमजोर होते हैं इंतहाई बोधे होते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कमजोरी को इस तरह जाहिर फरमाया मसलुल्लजीन तखदून العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وہ لوگ वो लोग जिन्होंने अल्लाह को छोड़ करके दूसरे सहारे बना लिए हैं दूसरों को अपना वली बना लिया है दूसरों को अपना सहारा बना लिया है इन लोगों की मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी का घर हो मकड़ी का जाला हो कि मकड़ी का जाला मकड़ी का घर दुनिया के तमाम घरों में सबसे ज्यादा कमजोर होता है ऐसा आदमी ऐसे बोगस सहारे के ऊपर डिपेंड हो जाता है ऐसे बोगस सहारे को अपना आसरा और अपना सहारा बना लेता है शेखुल इस्लाम में तैमिया रहमत ने एक जगह फरमाया कि बायजीद बुस्तामी ने कहा है कि अल्लाह के अलावा जो किसी दूसरे को अपना सहारा बना लेता है उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो डूब रहा हो और दूसरे डूबने वाले शख्स से मदद तलब करे एक शख्स खुद डूब रहा है तो उस डूबने वाले से यह डूबने वाला मदद तलब कर रहा है तो मुशरिक की मिसाल ऐसे ही है अल्लाह तबारक व ताला को छोड़ करके जिनसे वो मदद तलब कर रहा है उनकी मिसाल ऐसे है जैसे वो डूब रहे हूं और ये खुद डूब रहा हो और डूबने वाले से मदद तलब कर रहा हो जलालुद्दीन रूमी ने इसकी एक तमसील और दी है वो कहते हैं कि एक तरफ ठाटे मारता हुआ समंदर हो और दूसरी तरफ एक खुश्क जूहड़ हो एक खुश्क तालाब हो आदमी बहर जखार से पानी ना तलब करके खुश्क जूहर से पानी तलब करे ऐसे आदमी से ज्यादा बेवकूफ और कौन हो सकता है कि सामने बहर जखार हो ठाटे मारता हुआ समंदर हो उससे पानी तलब करने के बजाय खुश्क जूहर से पानी तलब करता है तो अल्लाह तबारक व ताला को छोड़ करके जो शख्स दूसरे को अपनी मदद के लिए बुलाता है तलब करता है दूसरे को फरियाद रस्सी के लिए पुकारता है ऐसे आदमी की मिसाल इस तरीके से है जैसे समंदर को छोड़ करके आदमी खुश्क जूहर से पानी तलब करे एक जगह इर्शाद फरमाया गया लहू दावतुल हक वल्लवीन यदून मिन दूनी ला यस ला बिशैइन इल्ला कबासिति कफ्फैहि फाहु हुवा बिबालिगि वमा दुआउल इल्ला फी वो लोग अल्लाह को पुकारना ही हक है वो लोग जो अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को पुकारते हैं इनकी मिसाल ऐसे है जैसे वो पानी के सामने हाथ फैलाए हुए खड़े हूं इस उम्मीद में कि पानी चल करके उनके मुंह तक आ जाए पानी उनके मुंह तक आने वाला नहीं है ये तो प्यासे ही मर जाएंगे तो मुशरक की मिसाल ऐसे ही है दूसरों के सामने हाथ फैलाए हुए खड़ा है इस उम्मीद में कि कुछ मिल जाए वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है जैसे पानी के सामने आदमी हाथ फैलाए खड़ा रहे इस उम्मीद में कि पानी चलकर उसके मुंह में आ जाए और उसकी तश्नगी बुझ जाए जैसा ये मोहाल है कि उसके मुंह में पानी आकर के उसकी तश्नगी बुझा दे ऐसे ही गैरुल्लाह के सामने दस्ते सवाल दराज करने वाला आदमी हमेशा महरूम ही रहेगा उसे कुछ मिलने वाला नहीं जो कुछ मिलता है वो अल्लाह तबारक वाली की बारगाही से मिलता है तो इंसानी जिंदगी पर पहला बुरा असर शिरक का यह पड़ता है कि उसके सोचने समझने की जो सलाहियत है वो जायल हो जाती है बड़े बड़े लोगों को देखा गया जिनकी फहमुदानिश मुसलम है बायोलॉजी पढ़ाते हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं केमिस्ट्री पढ़ाते हैं दीगर फनून पढ़ाते हैं लेकिन मजहब के मामले में बिल्कुल कोरे हैं वो हकीर से हकीर चीज को मबूद मानने के लिए तैयार रहते हैं इस चीज के ऊपर जितना अफसोस किया जाए कम अब इनके बारे में क्या कहा जाए पढ़े लिखे तो हैं लेकिन कुरान हकीम ने दर हकीकत इनकी अकलों के बारे में यह बात कही है कि मजहब के मामले में बिल्कुल कोरे हैं बिल्कुल जाहिल अब यह कितना बड़ा आलमिया है कि इतने बड़े लोग जिनकी फहमो दानिश मुसलम हो वो मजहब के मामले में इतने कोरे हूं कि वो हकीर से हकीर चीज को अपना माबूद मान ले पेड़ों के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं हकीर से हकीर चीज को अपना माबूद मान ले अकलों के ऊपर मातम करने को जी नहीं चाहता है इंसानी जिंदगी पर शिरक का यह बुरा असर पड़ता है आदमी की अक्ल माउफ हो जाती है सोचने समझने की सलाहियत छिन जाती है और दूसरा बुरा असर जो इंसानी जिंदगी के ऊपर पड़ता है वो ये है कि इंसान हर चीज से डरने लगता है जबकि मुवाहिद किसी से नहीं डरता अब आप तीन गरो अगर इंसानों के कर लें तो बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी एक गरो तो मादा परस्तों का है वो तो कहते हैं कि इस कायनात के पीछे कोई खालिक मुंतजिम नहीं और इस कायनात में कोई मुदब्बिर तसरुफ नहीं कर रहा है बस नेचर अंधी बहरी गूंगी ताकतें हैं जो अपना काम कर रही हैं मादा परस कोई खाली के मुंतजिम नहीं मानता इस कायनात के पीछे लिहाजा जब मादी जराए और वसाइल उसका साथ छोड़ देते हैं तो उसके यास और कनूत की और उसकी मायूसी की कोई इंतहा नहीं रहती इसलिए कि ले देकर के उसके पास तो वही मादी वसाइल ही थे जिनके ऊपर वो भरोसा कर रहा था और मादी वसाइल खत्म हो गए तो अब वो मायूस नहीं होगा उसके मायूसी की कोई इंतहा नहीं रहेगी इसके मुकाबले में एक दूसरा गरोह है जो मादा परस्त भी है साथ साथ कुछ वहमी और ख्याली कुतों से भी मुतासिर है देवी देवताओं से मुतासिर है और कुछ ताकतों से मुतासिर है वो अब ये तो मादी जराए हाथ से निकल जाने की वजह से मायूस तो होगा ही इसके अलावा वो हर हर कदम पर ख्याली और फर्जी ताकतों से डरता रहेगा कांपता रहेगा पत्ता खड़कता है तो कांप जाता है इसी वजह से कुरान हकीम में बताया गया सनुल्की फी कफर बिमा अशरकू हम उन लोगों के दिलों में जो कुफ्र करते हैं हमने रोप डाल दिया है उनके शिरक करने की वजह से यानी शिरक की वजह से उनके दिलों में रोप डाल दिया जाता है वो कायनात की छोटी छोटी मामूली मामूली चीजों से भी डरते हैं घबराते हैं उनके दिलों में रोप डाल दिया गया तो शिरक का एक बुरा असर इंसान के कल्ब के ऊपर यह पड़ता है कि इंसान बुजदिल बन जाता है डरपोक बन जाता है हर चीज से डरने लगता है यहां तक कि पत्ता खड़कने से भी खौफजदा हो जाता है घबरा जाता है इसके मुकाबले में मोहिद का हाल क्या होता है सादी रहमत ने बड़े प्यारे अंदाज में इसको बयान किया है कहते हैं कि मोहिद की दर पाए रेजी जरश वगर तेग हिंदी नहीं बरसरश उम्मीदो हरासश न बाशत जिकश हमी इनस्त बुनियाद तोहिदो बस कहते हैं कि मोहिद का हाल ही होता है जिसके हाथ में तोहिद होती है जिसका दिल तोहिद से मामूर होता है उसके कदमों में ला करके पूरी दुनिया की दौलत ढेर कर दो या हिंदुस्तानी तलवार उसके सर के ऊपर रख दो वगर तेज हिंदी नहीं बरसरश उसके कदमों में दुनिया के मालोजर डाल दो उसके सर के ऊपर हिंदुस्तानी तलवार रख दो तो उसको किसी से कोई उम्मीद किसी से कोई खौफ नहीं होता है और यही तोहीद की बुनियाद है और बस हमीनस्त नस्त बुनियाद तोहहीदो बस मादा परस्त खौफजदा हो जाता है मुशरक खौफजदा हो जाता है मुवहिद अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से नहीं डरता ये इंसानी जिंदगी पर शिरक के असरात इस तरह मुरतब होते हैं कि मुशरक हर चीज से डरता है मुवाहिद किसी चीज से नहीं डरता सवाल अल्लाह के इंसानी जिंदगी पर शिरक का एक और बुरा असर पड़ता है वो क्या है ऊंच नीच जात पात भेदभाव ये शिरक की पैदावार है आप तमाम मुशरक कौमों का जायजा ले लें तो आपको यह बात अच्छी तरह मालूम हो जाएगी कि मुशरक कौमों में अपनी बाला तरी का तस्वुर हमेशा रहा है और अपने अलावा वो दूसरी कौमों को मलिच दूसरी कौमों को जलील दूसरी कौमों को हकीर समझती रही हैं गोया ये जो भेदभाव है जो ऊंच नीच है और जो जात पात का मामला है ये सब शिरक की पैदावार है जबकि अल्लाह तबारक वाली ने फरमाया या खलकना वजालकुम शुरूबम व कबाइल तारफू ए दुनिया के तमाम लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और ये जो कबाइल हैं ये जो खानदान है ये तो सिर्फ तारुफ के लिए है वरना तुम सब एक मर्द और एक औरत की औलाद हो गोया तोहीद ये सबक देता है कि तमाम इंसान एक ही सर चश्मे से निकले हैं और शिरक क्या कहता नहीं हम सूरज की औलाद है कोई बोलता है कोई कहता है कि हम फला देवी की औलाद है कोई कहता है हम फला देवता की औलाद है इस तरीके का तस्वूर शिरक के पेट से पैदा हुआ है तो अगर गौर किया जाए कि ये जात पात ऊंच नीच भेदभाव ये सब कुछ कहां से निकला शिरक के पेट से निकला तोहीद तो दावत देता है इस बात की कि सब लोग एक ही सर चश्मे से आए सब भाई भाई हैं इसलिए कि सब एक ही मर्द और एक ही औरत की औलाद है इसी वजह से शिरक को जुल्म कहा गया है क्यों इसलिए कि अगर गोरा है तो अपने आप को काले से बर्तर समझता है अरबी है तो अजमियों से अपने आप को बुलंद समझता है और इस तस्वुर ने और इस अकीदे ने कितना फसाद मचाया है तारीख का तालिब इल्म जब वो वाकयात पढ़ता है तारीख के उनौरा को पलटता है तो उसका बदन कांप जाता है लर्जा बरंदाम हो जाता है कि गोरों ने कालों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म किए हैं मुआशरे के अंदर अपनी बर्तरी का दावा करने वालों ने कम जात के लोगों को जो उनकी निगाहों में कम जाते कैसे कैसे जुल्म ढाए हैं इसी वजह से अल्लाह तबारक ने फरमाया कि इन शिरक लजुल्म नाजीम शिरक बहुत बड़ा जुल्म है इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं शिरक का एक और बुरा असर इंसानी जिंदगी के ऊपर पड़ता है वो ये कि इंसान बदकिरदार हो जाता है इसलिए कि किसी इंसान के किरदार की तामीर किसी इंसान की सीरत की तामीर अल्लाह तबारक व ताला से ताल्लुक ही से पैदा हो सकता है सीरत की तामीर अल्लाह के ताल्लुक से पैदा होगी किरदार बेहतरीन बनेंगे अल्लाह तबारक ताला के ताल, से ताल्लुक की वजह से तौहीद अल्लाह से ताल्लुक कायम करता है और जब अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाता है तो आदमी की सीरत निखरती है और आदमी का किरदार फलता और फूलता है इस तरह जब मुआशरे के अंदर ऐसे लोग पैदा होते हैं जो मुवाहिद होते हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह से होता है उनकी सीरतें बहुत बेहतरीन होती हैं उनके किरदार बहुत अच्छे होते हैं तो वो मुआशरा तरक्की करता है फलता फूलता है वो सोसाइटी तरक्की करती है आगे बढ़ती है और जिस मुआशरे के अंदर बदकिरदार लोग हूं बदसीरत लोग हूं वो मुआशरा कभी पनपता नहीं है कहीं ना कहीं जाकर के उस मुआशरे के अंदर फसाद आ ही जाता है और वो मुआशरा तबाह हो जाता है तो अल्लाह से ताल्लुक तोहीद जोड़ता है और अल्लाह से जुड़ने की वजह से इंसान का किरदार बनता है इंसान की सीरत बनती है और शिरक से अल्लाह तबारक व ताला से इंसान का ताल्लुक टूट जाता है उसने अपना ताल्लुक काट करके गैरों से ताल्लुक जोड़ लिया अब अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं रह गया और अल्लाह से ताल्लुक काट लेने के बाद इंसान के किरदार के अच्छे होने की कोई जमानत नहीं दी जा सकती अल्लाह से कट करके आदमी की सीरत कभी नहीं बन सकती आदमी का किरदार कभी अच्छे सांचे में नहीं ढल सकता नामुमकिन है कि उसका किरदार अच्छे सांचे में ढले अल्लाह तबारक ताला से ताल्लुक काट लेने के बावजूद मुशरक अपने ताल्लुक को अल्लाह से काट लेता है मुवहिद अपने ताल्लुक को अल्लाह से जोड़ता है उसका किरदार निखरता है उसकी सीरत पनपती है और ऐसे लोगों से जो मुआशरा बनता है जो समाज बनता है वो समाज तरक्की करता है वो समाज आगे बढ़ता है खुद उसका भला होता है और दूसरों के ऊपर अपनी छाप डालता है दूसरों का मफाद भी उसकी वजह से जोहर पजीर होता है वजूद में आता है इंसानी जिंदगी पर शिरक का एक बुरा असर यह भी पर्दा होता है कि शिरक के नुकते नज़र से हर चीज़ मबूद बनने की पोजीशन में है हर चीज़ को अपना मबूद बनाया जा सकता है अब बताइए एक अदना अक्ल रखने वाला यह फैसला करेगा कि अगर शिरक के नुक्ते नजर को तस्लीम कर लिया जाए तो हर चीज मबूद बनने की पोजीशन में है तो हर एक के सामने अपनी जबीन रगड़ो उसके सामने सजदा करो अपनी जबीन को हर एक के सामने रुसवा करते फिरो बताइए ये इज्जत नफ्स है या इज्जत नफ्स का है बेड़ा गर्क हो रहा है गोया शिरक आदमी से इज्जत नफ्स को छीन लेता है और इज्जत नफ्स अगर छीन जाए तो फिर आदमी के पास क्या रह जाता है हर चीज के सामने अगर आदमी अपना सर झुका दे तो इज्जत नफ्स कहा रहा इज्जत नफ्स तो तबाह हो गई उसकी तो शिरक की वजह से इंसान कि इज्जत नफ्स के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है शिरक का एक बुरा असर इंसानी जिंदगी पर यह पड़ता है कि आदमी बदअहद हो जाता है बदअहद हो जाता है आदमी से जो अहद होता है दूसरे आदमी को चाहिए कि उस अहद को पूरा करे जिससे वो अहद करता है हमने भी अल्लाह तबारक ताला से एक अहद किया है अल्लाह ने हमसे एक अहद लिया है क्या अहद लिया है अहद अलस्त के अंदर हमसे एक अहद लिया है उसने क्या वही अखजर अबू कमिम बनी आदम मिन जहूरिम व जुर्रियत हम जुर्रियत हम व अशहद हम अला अनफुसिम अलस्त बिरब्बिकुम कालू बला शहीद ना अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम की पीठ से तमाम इंसानों को निकाल करके वो चींटियों की शक्ल में रहे हूं जैसे जर्र का लफ्ज है अल्लाह तबारक को ताला ने उन्हें अकलो शूर दिया और उनसे ये पूछा अलस तो बेरबिकुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं अच्छा, हमने वादा किया था कालू बला शहीद ना क्यों नहीं तू हमारा रब है अब दुनिया में आने के बाद हमने उस पैमान को भुला दिया और बदअहद हो गए हम इसलिए कि हमने जो अहद किया था कि हम तुझे ही महबूत समझेंगे हम तुझे ही अपना आका समझेंगे हम तुझे ही अपना रब समझेंगे यहां दुनिया में आने के बाद हमने जब दूसरों को अपना महबूत बना लिया दूसरों को अपना रब बना लिया अपना परवरदिगार बना लिया अल्लाह को छोड़ दिया तो हमने बदाहदी नहीं की तो शिरक इंसान को बदअहद बना देता है एक बुरा असर इंसान की जिंदगी पर यह पड़ता है हमने जो अल्लाह से अहद किया था अहद अलस के अंदर उस अहद के अंदर हमने बदाहदी की हम बदाहद हो गए और एक बुरा असर इंसान की जिंदगी पर शिरक का यह पड़ता है कि इंसान बेवफा हो जाता है बदहदी अलग चीज है बेवफाई अलग चीज है अल्लाह तबारक ताला ने एक जगह सूर्य नूर के अंदर इशाद फरमाया अजानी लायन के जानियतन ओ मुशरिका वह जानियत लायन के इल्ला जानिन ओ मुशरिक जानी मर्द या तो जानिया औरत से निकाह करे या फिर मुशरका औरत से निकाह करे इसी तरह जानिया औरत जानी मर्द से निकाह करे या मुशरक मर्द से निकाह करे यहां अल्लाह तबारक व ताला ने जना और शिरक को एक साथ जिक्र फरमाया जानी और मुशरक को एक साथ जिक्र फरमाया गौर करें तो जानी और मुशरक के दरमियान अजीब तरह की मानवीय मुनासबत पाई जाती है वो मानवीय मुनासबत क्या है कि एक मर्द एक औरत से निकाह करता है उसके नान नफका सुकना हर तरीके की जिम्मेदारी कबूल करता है और हर तरीके की आसाइश पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन इसके बावजूद औरत का किरदार मुलाहजा फरमाइए कि वो अपने मर्द को छोड़ करके गैर से अपना मुंह काला करती है शौहर सब कुछ मुहैया कर रहा है लेकिन शौहर की इन तमाम नेमतों को शौहर की तरफ से दी गई इन तमाम आसाइशों को वो नजरअंदाज कर देती है और गैरों से मुंह काला करती है इसी तरीके से एक मर्द अपनी औरत के अलावा दूसरी औरत से मुंह काला करता है यही हाल मुशरिक का है कि देता सब कुछ अल्लाह है मगर उसको छोड़ करके दूसरों से आदमी अपनी निस्बत कायम कर लेता है अपना ताल्लुक कायम कर लेता है उससे मदद मांगता है और परेशानी में उसे बुलाता है इस तरह जना और शिरक के अंदर एक तरीके की मानवी मुनासबत पैदा हो गई है कि दोनों एक दूसरे से बेवफाई करते हैं शौहर अपनी बीवी से बेवफाई कर रहा है बीवी अपने शौहर से बेवफाई कर रही जबकि शौहर सब कुछ दे रहा है अपनी बीवी को और बीवी ने अपना सब कुछ अपने शौहर के हवाले कर दिया है लेकिन इसके बावजूद वो दूसरों से अपना मुंह काला करते हैं ऐसे ही अल्लाह ताला ने फरमाया वह आता मिन कुल्ली मासाल तुम इन तउद्दू अल्लाह इन अरे तुमने जो कुछ मांगा वो तुम्हें हमने दिया अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते इतनी नेमतों के हासिल करने के बाद इतनी नेमतों के पाने के बाद तुम अल्लाह को छोड़ करके दूसरों के साथ अपना ताल्लुक कायम करते हो तो तुमसे ज्यादा बेवफा और कौन हो सकता है तो जना में और शिरक के अंदर एक माने में मुनासबत इस तरीके की पाई जाती है यानी शिरक की वजह से आदमी बेवफा हो जाता है और शिरक का एक बुरा असर इंसानी जिंदगी के ऊपर यह पड़ता है कि वो बागी हो जाता है और बागी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है जैसे हमारे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है उसके अलावा अपनी तरफ से कोई प्राइम मिनिस्टर बना ले या जो सदर है जो हुकूमत की तरफ से मुतयन किया गया है अगर उस सदर के अलावा कोई दूसरा सदर अलग से चुन लिया जाए तो ये बगावत होगी और ऐसे शख्स की सजा हुकूमत की तरफ से मौत है ऐसा आदमी बागी करार दिया जाएगा कि हुकूमत की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर मुतयन है हुकूमत की तरफ से जो सदर मुतयन है उसके अलावा किसने तुमको इख्तियार दिया कि तुम नया सदर बना लो किसने तुमको इजाजत दी कि ना प्राइम मिनिस्टर बना लो यही हाल मुशरक का है कि ये कायनात पूरी की पूरी अल्लाह तबारक वाल की है इस पूरी हुकूमत का लहू मुल्क समावती वर्द इस कायनात की बादशाह सिर्फ अल्लाह तबारक वाल के हाथ में है मुशरिक क्या करता है अल्लाह तबारक वाल का यही हक हुक्मरानी का दूसरे को दे देता है यह बगावत नहीं है इसी वजह से अल्लाह हर बुरे अमल को चाहे तो बख्श देगा लेकिन शिरक करने वाले को कभी नहीं बख्शेगा इसलिए कि हुकूमत में भी बागी की सजा सिर्फ मौत होती है मुशरक की सजा अल्लाह के यहां सिर्फ और सिर्फ अबदी जहन्नम है इसलिए कि वो अल्लाह तबारक ताला की हुकूमत का बागी है एक मामूली बात है कि जायदाद किसी की है अगर यह कहा जाए कि यह जायदाद फला की भी है कितना बड़ा जुर्म है यह बहुत बड़ा जुल्म है कि जायदाद किसी की हो उस जायदाद में किसी दूसरे को शरीक कर लिया जाए जिसकी वो जायदाद नहीं है इसको क्या कहेंगे जुल्म जुल्म किसे बोलते हैं जुल्म कहते हैं वजूर शेफी गैर महल किसी चीज को उसके गैर जगह में रखना तो जिसकी जायदाद नहीं है उसको उस जायदाद में शरीक कर लेना जुल्म ही तो है अल्लाह तबारक व ताला की ये बादशाहत है ये उसकी जायदाद है ये उसकी प्रॉपर्टी है अब इसके अंदर अगर किसी दूसरे को शरीक कर लिया जाए तो ये बगावत नहीं है ये जुल्म नहीं है इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला मुशरक को नहीं बख्शेगा और चाहे तो किसी भी गुनहगार को बख्श दे तो। इंसानी जिंदगी पर शिरक का एक और बुरा असर पड़ता है वो ये है कि इंसान नाशुक्रा हो जाता है नाशुकरा नाशुकरा कैसे होता है अल्लाह ही उसको सब कुछ दे रहा है अल्लाह ही उसे सब कुछ दे रहा है और उन तमाम चीजों से वो फायदा भी उठा रहा है लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला से अपना रिश्ता काट करके दूसरों को अपना महबूज समझता है दूसरों को अपना आसरा और सहारा फर्ज कर लेता है मान लेता है तो ये नाशुक्री नहीं है कि दे कोई और और तारीफ किसी और की की जाए दे कोई और सजदा किसी दूसरे को किया जाए दे कोई और तारीफ किसी और की की जाए ये क्या है ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है ये नाशुक्री है तो शिरक इंसान को नाशुक्रा भी बना देता है इस तरीके से एक और बहुत बुरा असर शिरक का इंसानी जिंदगी के ऊपर पड़ता है वो ये कि शिरक की वजह से इंसान एहसास कहतरी में एहसास कमतरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुबतला हो जाता है कैसे किसी आदमी को कोई मजहब है किसी आदमी को कोई स्टैंड है किसी आदमी का कोई मौकफ है और उस मौकफ पर उसके बाद कोई मजबूत दलील नहीं है उसे मालूम है कि हमारी इस मौकफ को हमारे इस मौकफ के ऊपर हमारे इस स्टैंड के पीछे कोई मजबूत दलील नहीं है लेकिन वो अपने मौकफ के ऊपर अड़ा हुआ है ये जानते हुए भी कि इस मौकफ के पीछे कोई मुस्तकम बुनियाद नहीं है कोई मुस्तकम दलील नहीं है तो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा अरे मेरे पास एक मौकफ है एक स्टैंड है लेकिन इस, इस स्टैंड की कोई दलील मेरे पास नहीं है हमेशा एहसास कहतरी में मुबतला रहेगा एहसास कमतरी में मुबतला रहेगा दीगर तमाम फिरकों को आप देखिए अहले हदीसों का कहीं प्रोग्राम होने वाला हो तो कोशिश ये की जाती है कि किसी तरीके से इनका प्रोग्राम रोक दिया जाए क्यों भाई वो एहसास कमतरी में मुबतला है इसलिए कि वो जानते हैं कि हमारा जो मौकफ है उस मौकफ के पीछे कोई मजबूत दलील नहीं है एहसास कमतरी में मुबतला होकर के वो ऐसी हरकतें करते हैं जिनको अपने मवाकिफ के ऊपर मजबूत दलील नहीं मिलती उनके मौकफ के ऊपर उनके पास कोई मजबूत दलील नहीं रहती वो इस तरीके की मजबूरी हरकतें करते हैं कि कहीं कोई आदमी अपना मौकिफ सही दलील की रोशनी में पेश न कर दे और हमारी तादाद कम ना हो जाए देखिए मुशरकिन से कितनी जबरदस्त मुनासबत ऐसे लोगों से है मुशरकिन भी यही चाहते थे कि लोग रसूल की बातें ना सुनने पाए कुरान पढ़ा जाए तो शोर बचाओ ला तस्मा लिहाजल कुरान वल गौफी लाल तगलिबुन कुरान न सुनो कुरान जब पढ़ा जाए तो शोर मचाओ लघु बात करो तो ऐसे ही जब तकरीरें होती हैं तोहीद के ऊपर रिसालत के ऊपर और वो दलाइल पेश किए जाते हैं जो कुरान और सुन्नत के दलाइल होते हैं तो जो गलत मवाकिफ के ऊपर हैं वो चिड़ जाते हैं वो ना तो सुनना चाहते न ये पसंद करते कि दूसरे लोग उन बातों को सुने कि कहीं सही दलाइल सुन करके उनका मौकफ ना बदल जाए और हमारी तादाद कम ना हो जाए तो शिरक से एक बुरा असर इंसानी जिंदगी पर यह पड़ता है कि आदमी एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है एहसास कमतरी का शिकार क्यों होता है इसलिए कि उसे मालूम है कि मेरा जो मौकफ है उसके पीछे कोई मजबूत दलील नहीं है अच्छा इस एहसास कमतरी का बुरा असर क्या पड़ता है वो झूठे एहसास बरतरी में मुबतला हो जाता है यह पॉइंट नोट किया जाए कि एहसास कमतरी में मुबतला हो जाता है और अपने मौकफ पर नजरसानी करने के लिए तैयार नहीं होता तो एक झूठा एहसास बरतरी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो भी झूठा फाल्स फाल्स सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है और अपने इल्जाम बातिल को साबित करने के लिए वो अजीब अजीब हरकतें करता है कभी ये कोशिश करेगा कि कुरान की तावील कर दे हदीस की तावील कर दे हदीस पर बिला वजह जरा कर दे और आगे बढ़िए दूसरे मजाहिब के मानने वाले जिन मजाहिब के मानने वालों की जिंदगी में शिरक मौजूद है क्या करते हैं तारीख तक बदल डालते हैं वो तारीख जो हकीकी रहती है उस तारीख को बदल डालते हैं और कोशिश उनकी यह होती है कि अपने कारनामों को हुस्न जमाल का पैकर बना करके लोगों के सामने पेश करें और दूसरे के कारनामों को इंतहाई हकीर और जलाक जलील बना करके और शर्मनाक बना करके पेश करें क्या ऐसा नहीं हो रहा है मुसलमानों की तारीख को भी मस्क किया जा रहा है इसके पीछे वही एहसास कमतरी है जिस एहसास कमतरी की वजह से एक फाल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक गलत और झूठा एहसास बरतरी पैदा हुआ है आप देखिए ऐसे लोगों को कि है हाँ, एहसास कमतरी में मुबतला लेकिन इस एहसास कमतरी में मुबतला होने की वजह से एक झूठे एहसास बरतरी में मुबतला है कि कुछ भी हो हम सही हैं हमारा मौके सही है और अपने जाम बातिल को साबित करने के लिए वो कैसी कैसी गलत हरकतें कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने है चाहे नाम नेहाद मुसलमान हो चाहे वो और किसी मजहब का मानने वाला हो इंसानी जिंदगी पर शिरक का एक और बुरा और खतरनाक असर यह पड़ता है कि शिरक इंतशार फिक्र अमल को दावत देता है और तोहहीद वहदत फिक्र अमल का दाई है जरा सोचिए कि सौ मुवाहिदीन हैं सौ मुवाहिदीन हैं सब तोहहीद के कायल हैं अब सोचिए कि सबकी मंजिल एक है सबका रूट एक है सबकी फिक्र एक है सबका अमल एक है सब एक ही चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं तो तोहहीद ये वहदत फिक्र अमल अता करता है अपने मानने वालों को और शिरक शिरक इंतशार फिक्र इंतशार फिक्र अमल का दाई है कोई फला महबूद को मान रहा है कोई फला को अपना महबूद मान रहा है कोई फला को अपना महबूद मान रहा है इस तरीके से फिक्रो अमल के अंदर इंतशार पैदा हो जाता है यह अतिया है शिरक का जो इंसानी जिंदगी को शिरक अता करता है इसके अलावा कुरान हकीम पर अगर आप गौर करें तो आपको और बहुत सारी दलीलें और बहुत सारी बातें मिल जाएंगी मसलन इंसान अपनी आंखों से देख रहा है एक खुली हुई हकीकत है कि इस कायनात में कहीं तजाद नहीं है यहां के कवानीन में तसादुम नहीं है और अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी वहदानियत की दलील इस तरह दी है कि लौकाना फीहिमा आलिहतुन लफसदता इससे अच्छी दलील अल्लाह तबारक व ताला की तोहीद पर और शिरक के रद में और कहीं नहीं है छोटे छोटे दो मुख्तसर जुमले हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने इसी वजह से मनतकीन ने इस दलील का नाम बुरहान तमानो रखा है आदमी तमाम बराहीन से बेनियाज होता हो जाता है अगर यह दलील उसके सामने रहे अल्लाह फरमा रहा है अगर कायनात में अल्लाह के अलावा भी कुछ और मबूद होते तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता अब आदमी खुद देख ले आगे अल्लाह ने कुछ भी नहीं फरमाया बस इतना कह दिया कि अगर कायनात में अल्लाह के अलावा और मबूद होते तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता लेकिन जरा देख लो कायनात में कहीं किसी निज़ाम के अंदर बरहमी है या कायनात का कोई निजाम दरहम बरहम है नहीं सूरज जैसे पहले मशरक से निकलता था मगरिब में डूबता था मौसमों को तगैरत जैसे पहले थे आज भी है सूरज जैसे मशरक से निकलकर मगरब में गुरूब होता था आज भी वैसे ही है जैसे नारियल के दरख्त पर नारियल ही उगता था आज भी नारियल ही उगता है कोई ये नहीं देखता कि नारियल के दरख्त के ऊपर कहीं कद्दू लटका हुआ हो कहीं जामुन के दरख्त के ऊपर कहीं जो है बबूल के कांटे लगे हुए हूं ये यकसानियत इस बात की दलील है ये वहदत इस बात की दलील है कि इस कायनात के पीछे वाहिद और अहद हस्ती मौजूद है ये कायनात की यकसानियत बताती है नहीं तो और कुछ मबूद होते तो कभी ऐसा होता कि सूरज मगरिब से निकलता मशरक में डूबता कभी ऐसा होता कि बारिश के मौसम के अंदर तगैर हो जाता गर्मी के निजाम के अंदर गड़बड़ी पैदा हो जाती कभी हम नारियल बड़ी मेहनत से लगाए हैं नारियल लेने के लिए जाते तो कद्दू लटका हुआ होता परेशान हो जाते ये क्या हुआ आए थे नारियल लेने के लिए नारियल का दरख्त लगा करके हमने इतना टेंशन मोल लिया दसियों साल के बाद जब फल लेने के लिए आया तो कद्दू लटका हुआ ये कद्दू तो दो तीन महीने में भी हासिल हो सकता था इस तरीके से आदमी परेशान हो जाता कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता अल्लाह तबारक ताला ने बड़ी प्यारी दलील दी इसी वजह से मंतकी ने इस दलील का नाम बुरहान तमानो रखा है मना कर देती है दलील बेनियाज कर देती है दलील और तमाम बराहीन से यह दलील काफी है अल्लाह तबारक ताला की तोहहीद को साबित करने के लिए और शिरक की तरदीद में अब कुछ सवाल हैं उन सवाल के जवाब मैं दे देता हूं और बात को खत्म करूंगा अहले तोहहीद पर एक इल्जाम यह लगाया जाता है कि ये बुतों की आयतों को हमारे अलिया के ऊपर चश्मा कर देते हैं बुतों की आयतों को हमारे वलियों के ऊपर चश्मा कर देते हैं अब उनसे मेरा एक मौदबाना सवाल यह है कि ये जिनकी मूर्तियां बन गई हैं जिनके स्टैचूज बन गए जिनके बुत बना लिए गए ये किनके बुत हैं ये हदीस में तो मैंने बता दिया था जैसा कि बुखारी किताब तफसीर में है कि असमाओ रिजालिन सालहीन मिन कौम नू जिनकी मूर्तियां बना ली गई जिसके जिनके स्टेचूज बना लिए गए ये सब अच्छे लोग थे अलिया थे ये सालहीन का लफ्ज है ये अलिया के बुत थे तो ये बुत जो है ये कौन है ये ये बुत तो वलियो ही के हैं लिहाजा ये कहना कि ये लोग बुतों की आयतों को हमारे वलियों के ऊपर फिट कर देते हैं अरे भाई ये बुत तो वलियो ही के हैं जैसा कि हदीस साबित है इसका क्या जवाब है उनके पास दूसरा सवाल मेरा यह है उनके ऊपर के आयत में उमूम है मिंदूनिल्ला अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें हैं सब चाहे वो नबी हो चाहे वली हो चाहे फरिश्ता हो चाहे शजर हो हजर हो अल्लाह के अलावा माँ सिवल्ला जितनी चीजें हैं वो सब मिंदूनिल्ला में दाखिल हैं अब जब आयत में उमूम है तो आपको किसने ठेकेदार बनाया है कि उस उमूम की आप तखसीस करें आयत तो आम है बुतों के लिए भी है और वलियों के लिए भी है नबियों के लिए भी है तो जब आयत आम है तो आप खास क्यों कर रहे हैं आपको खास करने का ठेकेदार किसने बनाया है तीसरा सवाल आयात में तो बुतों की और वलियों की तस्री तो है नहीं लिहाजा आपको किसने हक दिया कि कोई आयत वली को दे दे और कोई आयत बुत को दे दे आयात में तो इस चीज की कोई तस्री नहीं है यह तीसरा सवाल है जो मुशरकिन से है जदीद मुशरकिन से अच्छा एक सवाल गहरा कि कभी भी पूरी दुनिया शिरक इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती कि जरा मुझे यह फलसफा समझा दीजिए कि वली की कब्र बन जाए तो उसकी इबादत जायज और वली की मूर्ति बन जाए तो उसकी इबादत शिरक पूरी दुनिया शिरक मिलकर के इस सवाल का जवाब दे डाले कि वली की कब्र बन जाए तो उसकी इबादत जायज और वली की मूर्ति बन जाए तो उसकी इबादत शिरक जरा यह फलसफा मुझे कोई समझा दे पूरी दुनिया शिरक मिलकर के मुझे इस फलसफे को नहीं समझा सकती इस फलसफे को नहीं समझा सकती मेरा ख्याल ये है कि इस मौजू के ऊपर बहुत ही अहम बातें आप हजरात के सामने आ चुकी हैं इन वसीले का एक बयान रखेंगे कुछ बातें जो रह गई हैं इन उसमें उसको ले लेंगे अल्लाह तबारक ताली हमें नेक कमल और अच्छी समझ की तोफ़ी ख़ता फरमाया व आखरदावाना अलहमदिल्ला रबीआलम